तो महाराज कर्मणा बद्यते चंतु कर्म से बंधते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणों अन्य लोगों ये कर्म बंधना यज्ञार्थ कर्म के सिवाय अपने लिए कर्म करता है वो बनता है शुभ और अशुभ दोनों से बनता है अपने लिए कर्म करता है अपने लिए न करे अपने लिए कर्म नहीं यज्ञार्थात अन्यत्र यज्ञार्थ कर्म करे यज्ञ ना हो परंपरा शुभ कर्म में परंपरा सब यज्ञ है दान है तप है तीर्थ है व्रत है ये सब यज्ञ सब यज्ञ दिव्य ज्ञा सबो यज्ञ योग यज्ञ सब स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के अंदर तो शुभ कर्म आ जाते हैं जितने भी कर्म है शास्त्र में यज्ञ के लिए ना करके और अपने लिए कर्म करता है तो वो कर्म बंधन લોકો कर्म बंधन वो तो कर्म बंधन કરે को बंधन हो जाए लोग बंधन करेंगे सदर्शन कर्म काम से मुक्त संघर्ष समाचार आसक्ति क्या करिए भगवान के लिए कर्म करो भगवान के अर्पण करो भगवान का काम करते हैं घर भगवान का हम भगवान के काम भगवान का कुटुम्ब भगवान का चीज भगवान की भगवान की चीजें बना भगवान के अर्पण करो कुटुंब का पालन करो पंचामृत भी आज करो हम भगवान के भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से ही ये पिता पुत्र आदि कुटुंब से पालन करते हैं भगवान के जनों का ही पालन करते हैं भगवान के प्रसाद से बस फिर मस्त हो अपना कुछ है ही नहीं कुछ लेना न देना मगन रहना सब दे दिया भगवान को अब भगवान का भगवान जाए तुम जाओ यज्ञार्थ अन्य लोको यंग कर्म न यज्ञाय कर्म करे यज्ञ नाम है कर्तव्य कर्म का मात्र कर्म यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत और खाना पीना सोना जगना संसार के मर्यादा से चलता ये सब जो है ज्ञात इससे अन्य जो है अन्य कहेगा मैं करता हूं यह ज्ञात आप अन्यत्र अन्यत्र अन्य क्या हुआ कि मैं करता हूं तो कर्म बंधन हो जाएगा मैं करता बना फट जाएगा और तदर्थम कर्म होते संज्ञा केवल लोग के लिए ही कर्म करता है तदर्थम कर्म कौन थे मुक्त संघर्ष समाचार हो आसक्ति रहित होकर इस बात की तरह से आचरण कर ये भगवान ने आज्ञा दे मुक्त संग किसी के साथ कोई संबंध नहीं कोई राग तेज राग नहीं ये बात अगर समझ में आ जाए ना आज ही करती है आज ही पूरा हुआ काम अधूरा रहे ही नहीं निसंदेह पूरा हुआ है एकदम ऐसे तदर्थ में संसार के लिए ही कर्म करे अपने लिए कुछ नहीं न जप है न ध्यान है न कीर्तन है न पाठ है न चिंतन है अपने लिए कुछ नहीं मात्र संसार के लिए है ये ज्ञात कर्म है सब ये सिद्धांत बताया अब उदाहरण देते हैं सज्ञा प्रधान प्रजापति पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञों से प्रजा को पैदा करके और आज्ञादि ज्ञाने न प्रश्न इस कर्म के द्वारा इस यज्ञ के द्वारा तुम तो अपनी वृद्धि करो प्रसिद्ध हो वो वस्तुष्ट काम दुख ये तुम्हारी इष्ट पूर्ति करने वाला हो जाए देवान भाव्यता देवों की वृद्धि आप करो देवता आपकी परस्पर दूसरों की वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाज प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञों के सहित प्रजा को पैदा किया यज्ञों के सहित मानो कर्तव्य सहित स्त्रियों को बताई भाई तुम्हारे ये करते हो पुरुषों को बताया तुम्हारे ये करते हो लड़कों को बताया कि तुम्हारे ये करते हो माता पिता को बताया तुम्हारे ये करते हो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र साधु ग्रस्त सबको अपना अपना कर्तव्य में कर्म नहीं अभी है मर्यादा से अपने अपने कर्म का मर्यादा से अपने अपने कर्म तो अपना अपना कर्म सयज्ञ प्रजा से यज्ञों के सहित प्रजा की रचना करके ब्रह्मा जी ने कहा अनेना प्रश्न भव इससे तुम बुद्धि हो जाओ प्रश्न मन बुद्धि हो जाओ सो प्राणी प्रश्न है इससे बनता है इससे तुम बुद्धि हो जाओ और एस वो अस्मान इष्ट धाम इष्ट काम जो इष्ट मानो यज्ञ करने की सामग्री उसकी पूर्ति करने वाला हो जाए ऐसा क्या ये जो तुम कहते इससे उपरण हो तो ये यज्ञ हुआ प्रजा का यज्ञ वो तुम्हारी यज्ञ सामग्री इष्ट दुख है ना इष्ट काम दुख इष्ट काम को पैदा कर कामना पूर्ण करने वाला हो इष्ट कामना तो इष्ट यहाँ पर इस धातु से नहीं देना इस धातु से समझती है ना इस धातु से न इस इच्छायाम है यजदेव पूजा संगति कर्म दानेशु इस यज से तप प्रत्यय होगा तो संपूर्ण सारण होने से इष्ट बन जाएगा इस धातु से भी इष्ट बनता है यज धातु से भी इष्ट बनता है तप प्रत्यय होने से तो इष्ट मानो यज्ञ काम ना कि तुम इष्ट काम ना तुम्हारे यज्ञ करने की सामग्री है वो देने वाला हो जाएगा केवल संसार के लिए कर्म करो तो वो यज्ञ ही तुम्हारे को यज्ञ की सामग्री देने वाला हो जाएगा ये अब बताते हैं देवान भाव्यता लेना तुम जो तो देवताओं का इससे भाव करो इससे देवताओं की वृद्धि करो अरे ते देवा वह भाव युष्मान तुम्हारे को देवता वृद्धि करे देवताओं को वृद्धि तुम करो तुम देवताओं को वृद्धि करो देवता तुम्हारी वृद्धि करे ऐसे क्या होगा परस्परम भाव यंत्र परस्पर एक एक की वृद्धि करते हुए होते हुए श्रेय परम और परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे हमारा काम सब दुनिया के हित के लिए हो इस कारण से देवताओं के लिए हो सब के लिए हो तो ये होने से वो तुम्हारा भाव है तुम्हारे यज्ञ की सामग्री दे देंगे यज्ञ की सामग्री देवताओं पूजन करो देवता तुम्हारा पूजन करे एक एक वृद्धि करते हो परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ अपना अपना स्वार्थ रहा नहीं अपनी कामना रही नहीं तो कामना न रहने से परम श्रेय और आपसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे ये बात स्थान भोगान वे देव वो देवताओं का पूजन करोगे तो स्थान भोगान वो इष्ट करके मनोविलक्षित नहीं इच्छित नहीं स्थान भोगान तो इस नाव यज्ञ करने की सामग्री तिल है जो है ये और भोजन है ये चलना फिरना है ये सब इष्ट भोग इष्ट और भोग शब्द क्या है भुज धातु है ना भोग भोग शब्द के दो अर्थ होते हैं भुज पालना व्यवहार है एक तो पालन करना और एक भोजन करना खाना ये भुज धातु दो अर्थ होते हैं तो इष्टान भोगान करके तुम्हारे को इष्ट पदार्थ देंगे जो दुनिया के हित के लिए तो रक्षा का अर्थ होता है यहाँ ओदनम भूंगते और महिम भुलकती राजा महिम भुलकती और ओदनम भूंगते ओदन तो खाता है और राजा प्रजा की रक्षा करता है भोग सब लोग तो भोग है वो खाने में नहीं रक्षा में इस तरह भोग मनोरक्षा करने वाले पदार्थों को देंगे ये अर्थ है ना बड़ा विचित्र अर्थ है हमारे को मिला है तो ऐसे करते इष्ट भगवान दासन से यज्ञ भाव था यज्ञ भाव से यज्ञ से पूजित हुए देवता स्थान भोगान मानो यज्ञ की सामग्री यज्ञ पालने की सामग्री स्थान मन यज्ञ करने की भोगान सामग्री सुरक्षा की सामग्री वो देवता तुम्हारे को देंगे तेज दत्ता न प्रवी उन देवताओं का दिया हुआ जो ये पदार्थ है ये भी अदत्व भूंगते इनको न देगा अप्रदाय भूंगते सेम एक शोर है मनुष्य परमात्मा के दी हुई सामग्री अब दूसरों को न दे करके एकला खाता है तो वो चोर है तू चोरी करता है तुम्हारे को जो कुछ मिला है समस्त संसार के लिए मिला है तुम्हारे के लिए नहीं मिला यही कर करो फल अभिषय है ना भाई इसलिए अभिषय फल नहीं है इसका तो उपकार करना सेवा करना इष्ट भोग दिए इससे सेवा करो तो तेन एवं सब चोर ही है वो खाता है ऐसा यज्ञ शिष्ट न संतो मुचंते यज्ञ शिष्ट अब यज्ञ शिष्ट क्या रहा कर्तव्य पालन करने के बाद जो खाना पीना आदि है वो इष्ट यज्ञ शिष्ट हुआ यज्ञ का शेष रहा यज्ञ शेष भाव है इष्टान यज्ञ शिष्टा से ना यज्ञ शेष को खाने वाले अस भोजनी असीना तात्सल्य निधि निधि तात्सल्य में तो यज्ञ शिष्टा से ना यज्ञ का शेष भोजन किया मानो सबको भोजन करार बाकी बचे उस यज्ञ शेष होता है हमारी पुरानी माताएं सबको भोजन करार भोजन करती थी पहले नहीं सबको भोजन कराने के लिए सूर्य भगवान से एक बटलोई मिली पांडवों को पांडवों ने जप किया था आई अयोध्योम उनके ऋषि थे कहा कि हमारे साथ सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आ गए इनके भोजन कराए बिन मैं भोजन कैसे करूं और इनको भोजन कहाँ से कराऊं मृग सारा पैरी हुई जंगल में बैठे पास में कुछ नहीं कहा भोजन कराऊं तो भगवान बताया तुम देवते को उपासना करो सूर्य की स्त्रोत्र बताया स्त्रोत्र है बन पर उस स्त्रोत्र से उनको मिली एक स्थाली बटलुई संस्कृत में स्थाली कहते हैं थाली नहीं आ पा रही बटलुई उसमें जैसे भोजन बनाया जाए ऐसी हांडी है तो वो मिले तो उसमें कहा कि तुम्हारे सबसे पीछे भोजन कौन करता है कि पीछे भोजन द्रौपदी करती है सब अतिथि दूजा भोजन आजार घर वाले और अतिथि भी सबको भोजन करा दे अब कोई भोजन करने वाला बाकी नहीं रहा तब द्रौपदी भोजन करती ये घर की मालकिन का कर्तव्य है कि सबको भोजन करार करे तो फिर बाकी दिन भोजन करती बाकी द्रौपदी द्रौपदी भोजन करने के बाद फिर पत्थर में कुछ नहीं रहता फिर दूसरे दिन बनाओ और फिर भोजन करो वह भी कुछ नहीं रहता तो दुर्योधन के कहने से दुर्वास ऋषि दस हजार शिष्यों सहित पहुंचे भैया देव भोजन कर लिया है देख लिया दिव्य दृष्टि देख लिया के द्रौपदी ने भोजन कर लिया और आराम कर रहे हैं सब पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके उस समय जा करके युधिष्ठिर भोजन लाओ हम अभी मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं भोजन त्यार करो भोजन करो तो ठीक है महाराज जो आ गया कोई तो गया संध्या करने के लिए युधिष्ठिर ने भीषण जा पूछा है तो बोलेगा मैं तो भोजन कर चुकी भोजन कर चुकी अब अब पानी मिले नहीं अब इस दिन कहा से भोजन करा हुए तब द्रौपदी ने किए भगवान को याद कृष्ण को याद करते छठ आ गए हाँ बोलो कहते बोले क्या पहले तो ये बात बताओ कि मेरे को भोजन करा मैं भूखा आया हूं द्रौपदी ने कहा महाराज ये भोजन की समस्या में तो आपको बुलाया है ये आप तो भोजन की है वो भोजन होता तो आपको बुलाते ही नहीं कि देखो द्रौपदी कृष्ण न नर्म कालोयम ये मशगरी का समय नहीं है हंसी मछली का काम नहीं है मैं दूर से आया हूँ थका हुआ हूँ भूख लगी हुई है पहले तो भोजन करा फिर तो से बात करना मुझे <laughs> दो बात बतली एक तो दूर से आया हूँ थका हुआ हूँ एक हमारी भूख लगी हुई है तो वो पहले भोजन करा दे फिर बात कर तो तो महाराज भोजन कहाँ से कराऊ क्यों उस थाली ला वो बटोला ला देखे आ बटोई बीच में एक पत्ता लगा हुआ जोड़े में पत्ता चिपका रह गया उसके बोले डकार बेकार देते तीनों की चिप्त होगी सब के सब अब बुला लाओ ऋषि बुला लाओ कि मैं भोजन के लिए सदैव गए तो ऋषि वहां संध्या कर रहे थे नदी में खड़े हुए तो ये अगमर्षण मंत्र होता है उस अग्रसर मंत्र को जल में लेकर नाक लगा कर पढ़ाया जाता है अब जल में ही खड़े हैं नीचे और नाक लगा हो तो यहाँ तो भरी हुआ नहीं जैसा इतना भर गया पेट कि अगमर्ष मंत्र के लिए जल में नाक नहीं लगा सकते एक एक दिन के बाद है हमारी ये दशा है हमारी ये दशा है तो कहते भागो यहाँ से भागो अभी बुरा बाजा भूल कैसे करेंगे हम तो थप के चुप तो हो गए क्या करें अरे वो भाई मेरे बक्सा से काम पड़ा दुर्वासा से दुर्वास ने कहा अम्बरीश से काम पड़ा है मेरे अरे ये भी भगवान की भगत है दशा दुर्दशा होगी भागो और कोई उपाय नहीं है सब भागे हाजन जागो ऋषि वे तो महाराज संध्या करते करते निकल भाग गए नहीं अच्छा साधन में आ गया महाराज तो भाग गए और वहां बुलाने वास्ते भेज दिया कृष्ण भगवान ने कह दिया पांडव द्रौपदी कुछ नहीं बोले कि महाराज इसे ऋषि ने बुलाओ कहा से भोजन कराओगे बुला लो भोजन नहीं बुला लो सबको किसी ने तर्क नहीं की कि बुला तो लिया निमंत्रण दे दिया घर में खाने को दाना ही नहीं है <laughs> पत्थर ही नहीं है क्या खिलाओगे तो सब नुकसान से ये बुला वो इतना अपने कैसे अपने क्या चिंता है भाग्य बना तो वो यज्ञ शेष है अंत में जो भोजन करते हैं वो यज्ञ शेष है यज्ञ हो चुका अब शेष यज्ञ श्रेष्ठा संतो मुचुन से सर्व यज्ञ शेष भोजन करने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं चौथे में यज्ञ श्रेष्ठा यज्ञ शिष्ट अमृत भूलो जानती ब्रह्म सनातन यज्ञ शिष्ट अमृत खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं वो यहाँ बताए चिंत स्वरूप के विषय सब पापों से मुक्त हो जाते हैं प्राणों प्राप्त हो जाते हैं तो सबको भोजन करा करके भोजन करे ये द्रौपदी का नियम था अब सब भोजन करा दिया भगवान भोजन करा भोजन करा कि बराज भोजन नहीं है हमारे उम्र से नहीं करती है दिल्ली की उड़ाती है मेरी एक तो परिश्रम करके आया हूँ एक हूँ भूखा दो भारतीय बना हूँ इतनी दौड़ दौड़ आया तो परिश्रम पड़ता है कि नहीं थकावट एक तो एक लगी भूख अब तो मेरे साथ दिल की करती मैं दिल की नहीं करती हो आसिफ मसीह नाम है नर्म का नर्म स्त्री से नर्म विवाह ऐसे वृत्य से प्राण संकट है ये मैं नहीं हंसी करेगा मैं देख बहुत परिश्रम करके दूर से आया हूँ भूख लगी हुई है ऐसे हंसी तो दिल की नहीं करनी उसको भोजन कराना तो महाराज है नहीं तो लाभ बटल में ला समझ पत्ता निकाले हमारे एक पता लगा सब पता लग गया तो ये भी शेषता सुना संतो भुंजते सर्व भुंजते सर्व की विषय भुंजते थे पगम पापा ये थे आत्म कारणात् आत्म कारणात् थे अपने लिए ही पकाते खाते वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं कोरा कोरा पाप भक्षण करते हैं यज्ञ श्रेष्ठ करने वाले परमात्मा प्राप्त हो जाए और अपने लिए ये पचनती आत्म कारणात अपने के लिए पकाते हैं ते पापा अघम भंजते पाप खाते हैं पाप का ही भक्षण करते हैं ये बात इस वास्ते सबको भोजन करा भोजन करना चाहिए घर का मालिक घर की मालकिन हो सबको भोजन करा अतिथि के भी सत्कार कर दे कोई भूखा नहीं रहे कदम भी भूखा था भोजन करो फिर भोजन करे ये बात आई अब बताते हैं सृष्टि चक्र दोष लोगों में सृष्टि चक्र बताते इस दृष्टि से भोजन करा करना चाहिए ना अपने लिए केवल अपना पका हुआ आप ही खाओ आप ही तो ये पापी है सो चोर है और पाप का भक्षण करते हैं अधोगति में जाएंगे ये बात बताएगी तो मारवाड़ी में कैसे बाधी हांडी बाधी हांडी नहीं खानी बाधी मान केवल अपने लिए पकाया आप ही खाया ये ठीक नहीं खेती बने तो सबके लिए भोजन बना तो सबके लिए सबके लिए खिलाफ खाना खेती होती तो पहला फल होता वो ठाकुर जी को भेजते हैं ब्राह्मणों को भेज देते हैं गाय नहीं तो पहला दूध है ब्राह्मणों को ठाकुर जी चला देते हैं भेज साधु ब्राह्मणों को लाओ पहला भोजन अपने में पहला दूध अपने नहीं रहते पीछे दूध यज्ञ शेष हो जाए फिर शब्द यज्ञ शेष है अमृत हो जाता है यज्ञ शेष अमृत हो जाए तो कैसे होता है वो शिष्ट चक्र के अन्नाद भूमि भूता दो श्लोकों में ये चक्र अन्न से अन्न से प्राणी पैदा होते ये सब सब पैदा होते अन्न से तो अन्न क्या है अपना तो गेहूं चोड़ा चो आदि ये अन्न है गायों का घास है ये अन्न है जिसका जो जो भक्ष्य वो उनका अन्न है जमीन में कीड़े होते हैं ना तो लंबे लंबे वे मिट्टी को खाते हैं मिट्टी को रोते हैं वही वो भी अन्न है उनका वही अन्न है लोग जीव जू आदि होते हैं ना ये पसीना खाते वो भी अन्न है उनका वही अन्न है पसीने को खाकर जी जाते हैं मच्छर काटते हैं वो अन्न है उनका आपका खून चूसते है ना वो अन्न खाते हैं अन्न बिना कैसे पैदा हो अन्न भवंती भूता नहीं प्राणी अन्न से पैदा होते हैं वो अन्न खाए हुए सृष्टि भूषण सृष्टि पैदा होती है अन्नाद भवंती भूता नहीं अन्न से तो प्राणी होते हैं अन्न पर्जन्यात अन्न संभव वर्षा से अन्न होता है का संबंध रहता सबके साथ घास है पत्ता है वो गीली मिट्टी है उसमें भी जो भक्षण करने वो अन्न से वर्षा से होता है यज्ञात भवती पर्जन्या वर्षा होती है यज्ञ से यज्ञ कर्म समुद्र यज्ञ करने से होता है और कर्म ब्रह्मोद्भव वेद में कही हुए अनुसार से कर्म ब्रह्मोद्भव विधि और ब्रह्म अक्षर समुद्र ब्रह्म अक्षर परमात्मा से प्रकट होता है वेद ब्रह्म नाम वेद का है यहाँ वे वेद अक्षर ब्रह्म से तस्मा सर्वगतम ब्रह्म तो वो जो परमात्मा है सर्वगत है परमात्मा है उससे वेद प्रकट हुए वेद से यज्ञ की विदाई मिले ही बचेगा ही यही अपने अपने कर्तव्य का पालन किया उस पालन कर से वर्षा होती है वर्षा से सृष्टि होती है तो ये चक्र हो जाओ अब कर्म ब्रह्मोद्भव ब्रह्म अक्षर समुद्र में अक्षर और ब्रह्म वर्षा मनुष्य पैदा हुए मनुष्य मेरे कर्म करेंगे उस यज्ञ शिष्टा से संतों पहले बताया ना प्रजा ने यज्ञ सहित प्रजा को पैदा कर कहा तुम वृद्धि करो अपना अपना से करो इसमें एक थोड़ी कहानी बताऊं छोटी सी जिसने विशेष समझ में आ जाए देवाल भाव्यता ने ना थे देव भाव्यता दो आदमी को मकान में रख दिए और भोजन की सामग्री सब रख दी पट्टिया पर लकड़ी बांध दी हो भोजन सब रहा क्यों निकालो कैसे रखी बांध दी तो ये भूखे मरा क्या किया तो महाराज ने उपाय उसने उसे मुंह दे दिया इसने तो इस मुंह में दे दिया उसने दोनों भोजन कर लिया दोनों को गए ना भोजन क्यों यहाँ भोजन यूं तो कर नहीं सकते लक्ष्य बन नहीं है यूं तो कर ही सकते नहीं उसको खिला दिया उसने उसको खिला दिया दोनों तृप्त हो गए ऐसे संसार में यहाँ जितनी वस्तुएं हैं हम दोनों को भी और हम प्राणी सब हम उनको दे हमारे वे दे हमारे को देवता हमारे को दे दे हम देवताओं को दे परम कल्याण हो जाएगा अगर अपने लिए फिर वही बने और खाओगे तो खाओ फिर धक्का खाओ जन्म मत खाओगे एवं प्रवर्तम चक्रम अन्न से प्राणी होते हैं वर्षा से अन्न होता है वर्षा यज्ञ से होती है यज्ञ वेद से होता है वेद से प्रकट हुए करने से यज्ञ पूरा होता है और फिर फिर भी प्रकट होते मनुष्य भी यज्ञ करते हैं यज्ञ से प्रकट होता है ऐसा प्रवृत्ति चक्र नानुवर्ती है यहाँ यहाँ जो सब कोई अनुवर्तन नहीं करता इसका नहीं करता है अघायु रामा मोगरम तीन बात बताई अघायु उसकी आयु अघ रूप है इस चक्र के अनुसार दूसरों को न देकर कृष्णों के ऊपर खास आज जिम्मेवारी बताई क्योंकि साधु सन्यासी संग्रह नहीं करते ब्रह्मचारी संग्रह नहीं करते बाणपत बिजार संग्रह में अपना निर्वाह करते हैं कृष्णों के ऊपर सब है कृष्ण तो मन भाव कोई आवे तो उसको भूखा नहीं जान से अपने थोड़ा दे दो ज्यादा नहीं हो तो दे दो देना चाहिए तो जो नहीं देता है इसका अनुवर्तन नहीं करते हैं यज्ञ का अघायु उनकी उम्र केवल पाप रूपी उम्र है अघायु अरे इंद्रिया राम इंद्रिया में आराम रमण करते हैं भोगों में भोगते हैं भगवान है शब्द सच बोलते हैं मोघम पार्थ सजीव स पार्स प्रसन्न सुनो वो निर्स जीता है असा मर जाए तो अच्छा। जीना कोई काम का नहीं भोगम पाचा सजीवती तो कुंभकर्ण तुम सोच नहीं के जो भगवान के जो मर जाए तो अच्छा है बाहर है कोरा जमीन पर मोघम पास जीवती संघर्ष जीता है तब तो महाराज सबकी यही बात होगी लागू तो कहते सुनो यस्तु आत्मवृत्ति से और केवल आत्मा में संतोष आत्मा में प्रीति है परमात्मा में प्रीति है आत्म तृप्त और अपने परमात्मा स्वरूप में तृप्त है आत्मा में संतोष है सस्य कार्य उसी लिए कोई करते नहीं उसी रूप ये लागू नहीं पड़ता पर खाओ पियो रहो और मौज करो तो लागू रहा है माल पर जगात लगती है माल नहीं जगात किस बात की इनकम को टैक्स लगता है एकदम नहीं तो तक इस बात तो ये तो आत्मति आत्मव्यवस्था समान आत्म एवं संतुष्ट तस्य कार्य न विजय कर्तव्य नहीं है क्यों कि नहीं तस्य कृत्य नार्थ नहीं तस्य कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं करने से मतलब है न न करने से मतलब है करने से भी मतलब नहीं न करने से कोई मतलब नहीं परमात्म स्वरूप में चिप से मस्त है अपना आप से नशा सुखा से वास्ते इन प्राणियों में किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध है ही नहीं उनका तो सब दुनिया के लिए होता है ऐसे पुरुष में हवा से कल्याण हो दुनिया का दर्शन से तृप्ति हो कल्याण हो ऐसे ही सुनने से कल्याण होगा ऐसी बात इतना पवित्र हो जाता है निर्मल नहीं तो मोह हम पाते मेरे से तीर्था मेरे से तीर्था हो ये किसी ना मोहसार मोह कर्मानु मोह ज्ञान जैसे राक्षसी वासु नौमैद्य बताएंगे तस्माद असक्त सततंग कार्य कर्म समान तस्मात इस हेतु से आसक्ति रहित होकर कार्य कर्म सतम समाज कर्तव्य कर्म निरंतर को सततम निरंतर अच्छा अच्छा काम करते विकर्म है वो निरंतर करते रहो मशीन की तरह बढ़िया काम करते सके सबके हित के लिए अपना स्वार्थ अभिमान छोड़ करके ममता को छोड़ करके बस तो असंतोष यात्रा आसक्ति रहित असक्त सख्त न होकर आसक्त न होकर के कर्मात्म परमाणु बोल से परमात्मा प्राप्त हो जाता है आसक्त किसी जगह नहीं केवल दुनिया के लिए करता है घर में रहते हुए भाई बहन सबके लिए कर्म करे अपने लिए नहीं सबकी तृप्ति हो सब शांति रहे ये रीति है थोड़ी रीति है अभी अभी ये माइया है ना जब दिवाली आ गई कोई त्योहार आ गया तो घरे सोरा सोरी है जब तुम पढ़ाते रहे बढ़िया सोरा यहाँ नहीं है वो सोरा छोटा नहीं है वो बाहर गया व्यापार के लिए कहीं गया हुआ है तो आज क्या रसोई बढ़ना है सोरा तो घर पर नहीं है जाकर साधारण बना रहा बाहर सोरा मतलब घर से सारे अच्छी अच्छी बढ़िया है बना तो ठाकुर जी ले रहा हमारा अपना सोरा ठाकुर जी ठाकुर जी के लिए बढ़ाओ पशु बोला गए मुझे भोग लगा बेटा आप खाओ मोल से आवाज तो दुनिया के लिए काम करना अपने लिए नहीं अपने लिए कुछ नहीं कर्म नहीं हुई संस्कृति में आस्था जनकादे जनकादे के जितने हुए हैं बड़े बड़े ऋषि ऋषि वे कर्म नहीं हुई संस्कृति में आस्था वे कर्मों से ही सिद्धि को प्राप्त हुआ इस तरह से कर्म के सबके हित के लिए करते राज्य करते थे अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए सबका फैलाव इसके लिए इस बात को लेकर कुंती माता ने कहो तुम युद्ध करो युद्ध तो विचार नहीं था बड़ी बुद्धि बिगड़ी हुई है इनको नष्ट करो जो राज्य शांति हो जाए सब लोगों में तो लोक संग्रह में कर्मणी की मास्टर धन का दिया इससे हुए लोक संग्रह में वापी संपर्श करूंगा तुम्हारे लिए कोई इच्छा नहीं है कोई कामना नहीं है तो लोक संग्रह लोक संग्रह क्या अच्छे अगर कहते ये ज्यादा आचरती श्रेष्ठ तत्व जो श्रेष्ठ करता है वैसे दूसरे लोग करते हैं वो जिसको प्रमाणित करता है लोग उसको अनुवर्तन करते हैं ये दो बात एक तो ये करते हैं वैसे लोग करते हैं एक वो कहते हैं लोग करते हैं इस संसार मर्यादा में रहता ठीक तरह से उनके करने से और अपने उपदेश से संसार सब शांति से चलता है देख भगवान कहते हैं नमे पारशास्त्री कर्तव्य लोग व्यंजना इन लोगों का तो सारा कर्तव्य इस लोक में है मैं त्रिलोकी का मालूम हूँ त्रिलोकी में मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है कोई काम मेरे बाकी नहीं है नमे पार्थास्त्री कर्तव्य लोग किंचन छोड़ा भी नहीं है नानुवाप्त महावतव्य प्राप्त वस्तु कोई मेरा प्राप्त न हो सब कुछ नहीं मनु सब किया हुआ और सब प्राप्त हुआ हुआ तृप्त समय कोई जरूरत नहीं कोई कर्मणी बचते तो कर्मणी एव बचते फिर मैं कर्म करता हूँ क्यों करते महाराज यदि अंग न बरते हम जातु कर्म कदाचित मैं इस तरह से न बर्ताव करूं तो उसेरे में लेंगे सब छिन्न भिन्न हो जाए सब उस उत्साहजन से चार सर्व उससे ही उरी में लोग कोना को संघर्षित करता क्या वर्ण शंकर पैदा करना मैं हूँ और संपूर्ण प्रजा का नाश करने वाला बनू सुने उपहन्याम इमा प्रजा इमा प्रजा उपहन्याम इनकी हत्या करूं मैं क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो दूसरे नहीं करेंगे दूसरे नहीं करेंगे तो मेरे तो करने न करने से कोई मतलब नहीं है लोग संग्रह के लिए करते हैं अगर नहीं करो तो लोग भी नहीं करेंगे तो उनका उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी तो लोग संग्रह के लिए अर्जुन तेरे काम करना चाहिए लोगों को अपना अपना कर्तव्य बताने के लिए तुम्हें भी करना चाहिए यदि राचरती से तब तब योजना से न पास से बताई दिया सत्ता कैसा करे कैसे करने की बात होता है सत्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुरवंत अविद्वान लोग है कर्म में आसक्त हो भोगों में आसक्त है रात दिन भोग मिल जाए जितिया मिल जा रही हो तत्परता से काम करते हैं यथा कुरंत जिस प्रकार करते हैं कुरिया विद्वान तथा विद्वान को सही ऐसी लगन करे परंतु श्री लोग संख्या लोग संग्रह चाहता हुआ करे जैसे आसक्ति वाला कामना से करता है वो प्रकार करे उस प्रकार से करे अपना कोई विश्वास नहीं सबके हित के लिए सुबह शाम रात में दिन में सबके हित के लिए तर से काम कर संपूर्ण हित के लिए ये करना चाहिए न बुद्धि भेदम से नहीं अज्ञान कर्म नाम जो अज्ञानी है कर्म में आसक्त है ऐसों में बुद्धि पैदा नहीं थी कर्म में क्या पड़ा है कर्म कुछ नहीं ज्ञान से मुक्ति हो जाती है ज्ञान केवल कर्मों से क्या है ऐसे करके किसी को बुद्धि भेद ना करे मानो कर्तव्य कर्म से चुत ना करे हट न जाए कर्तव्य कर्म करे न बुद्धि निषेधन है दज्ञान कर्म स्वरूप जो स्वरूप भगवान है विद्वान युक्त स्वरूप विद्वान युक्त सावधान रहता समाचरण अच्छी तरह से आचरण करता हुआ सर्वकर्माणी जोश ये सब कर्मों में लगा हुआ है सब कोई लगा आप लग कर लगा हुआ कह करके लगा हुआ कह करके यही बात कर करके यही बात दुनिया का हित हो उसके लिए अपना कोई मतलब नहीं अपना कोई स्वार्थ नहीं दुनिया के हित के लिए ऐसा करे प्रकृति क्रियमानानी गुणी कर्माणी सरोस ये प्रकृति के गुणों के द्वारा सब कर्म होते हैं अहंकार से मोहित अंतर मैं करता हूं मान लेता है करता तो होता है प्रकृति गुणों के द्वारा अहंकार से मोहित अंतर्गण मूड में मैं करता हूं ऐसा कर्ता बढ़ जाता है ये कर्ता नहीं बनना चाहिए तत्ववेद तो तत्ववेदता वो तो महाबहो गुण कर्म व्यव गुण विभाग के तत्व को जानने का गुणा गुणे से मत गुण ही गुणों बरस रहे हैं हमारा मतलब ही नहीं है ये शरीर इंद्रिया अंत अंतकरण मन सब लोगों की जब स्थिति नहीं बरस रहे हैं अपना कोई मतलब सत्ता मात्र न आपसे अपने लिए कुछ नहीं है प्रकृति और गुण सम्मूढ़ा प्रकृति गुणों से मूर्ख हो रहे हैं गुण गुण और कर्मों में पदार्थों में क्रियाओं में आसक्त होते हैं क्रियाओं में पदार्थों में तान अकृष्ण गुणदान वे अकृष्ण सब पूरा जानते भी और मंद है कृष्ण वित्त न विचार ये सब जानने वाला उनको विचलित न करे कर्म इतनी सी कर्म करे पहले कह जोश ये विद्वान ऊंचाइए तत्परता से उत्साह से करे और करवा तो भगवान अंत में ढीला कहते हैं ज्ञानी होने उस पर भगवान भी हुक्म नहीं देते तुम करो उनके लिए करना ही नहीं खुद पहुंच चुके तो से दिखाव ना भाई बुद्धि भेद न करे तो क्या करे यज्ञात कर्म करने से भी करे कर्म करके काम करे तो प्रकृति गुण संबंध प्रकृति के गुणों से मूर हुए हैं वे गुण और कर्म आसक्त होते हैं तान अकृष्ण मिले मंदान कृष्ण मिलना विशाल सब जानते उसको विचलित न करे कर्मों की निंदा करे क्या पता कर्मों में ज्ञान हो जाए बोले कर्मों में कुछ नहीं है ऐसा कभी ना करे कहे भी नहीं सुख लगाओ हाँ भाई करो काम ना मिटाओ कर्तव्य मत मिटाओ भाई ये बात है खास अब ये क्या करे तो मेरे ज्ञान हो गया मन ठीक हो गया अब काम करने में जोर है और बैठने में जोर नहीं है सब जोर से करो काम न बुद्धि जिंदगी तान कृष्ण आकृष्ण मंदान कृष्ण वित न विचारिए तो क्या करे अब थी बता से कैसे करे तीसवा श्लोक खास है तीसरे अध्याय में तीसरा श्लोक कर्मियों का खास मई सर्वाणी कर्माणी से निश्चित सब कर्म भगवान के लिए कर भगवान अर्पण कर दे सब आपके लिए करते हो रहा है जो कुछ करते हैं आप अध्यात्मिक ध्यान युक्त चित्र से विवेक पूर्वक सब कर्म भगवान के लिए है निराश नहीं देते कुछ है निराश इच्छा से ना इच्छा का इच्छा से रहित और निर्मम ममता से रहित अपनी इच्छा नहीं अपनी ममता भी नहीं किसी पदार्थों में व्यक्तियों में युद्ध स्वभिगत विघत जरा कचित करो संताप की जरूरत नहीं विद्युत होकर के निसर्ग होकर करो तो मरो मरो मरो काम करो ऐसे करो ये मे मत मिदम नित्यु मंत्र माना ये मेरा मत है जो मनुष्य इसका अनुष्ठान करते हैं मेरे के अनुसार करते हैं तो श्रद्धा पूर्वक करते भक्ति पूर्वक करते कर्म भी मुक्त सब कर्म मुक्त हो जाते हैं सदा मुक्त हो जाते हैं सुई मुच्यंते ते भी कर्म भी वे भी कर्म से मुक्त हो जाए मेरे मत का जो ही अनुष्ठान करेगा वो मुक्त हो जाएगा मेरा मत क्या स्वार्थ और अभिमान और ममता को छोड़कर दुनिया के हित के लिए ही काम करे रात और दिन वे भी मुक्त हो जाएंगे ये स्वार्थ बांधता है गुण का संग है गुण की आसक्ति है ये बांधने वाली चीज ये नहीं है मुक्त हो जाते हैं ये तो ये तो अभ्यसूयन तो नादृष्टि मतम इसकी निंदा करे अभ्यसूयन की निंदा करते हुए मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान वे सब ज्ञान से मूर्ख कोई ज्ञान उनके पास नहीं विधि नष्टान अचेत अचेत व्यचित है नष्ट हो गया वे नष्ट हो गए समझे तो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते केवल अपने लिए करते खाऊ खाऊ खाऊ वे तो नष्ट होते पतन हो चुका है इस वास्ते ऐसा नहीं करवा ये बात नहीं भगवान ये बत्तीस लोग हो गए अब बोले इनमें कोई पूछने की बात नहीं पूछ लो भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जाके बत्तीस श्लोक हुए तीसवें श्लोक में खास कर्मयोग की बात बताई ऐसा कर्मयोग की विधि बताने वाला एक श्लोक है गीता भर में दूसरे थोड़ी का नहीं है उनके ये अन्वय व्यतिरेक से मानो इसके अनुष्ठान से तो मुक्त हो जाता है और इसका अनुष्ठान नहीं करते उन्हें पसंद हो जाता है ये बहुत इकतीस सौ बत्तीस में कही इसका अनुष्ठान करते मुक्ति और ये निंदा करते अनुष्ठान नहीं करते उनका पसंद हम कहते निंदा करते नए अनुष्ठान करते कारण क्या है तो एक बात बताते हैं सदृशम चेषते समस्या प्रकृति ज्ञानवान अभी प्रकृति भूता ने निग्रह किं करिष्यति ज्ञानवान अपनी ज्ञानी महात्मा भी स्वस्या प्रकृति सदृशम चेष्ट से अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते ज्ञानी महात्मा भी और पूता नहीं प्रकृति जानते प्राणी तो प्रकृति को प्राप्त होते हैं इसमें निग्रह केंद्र से निग्रह वर्ग इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं चलेगी कुछ नहीं कर सकेगा तो बात यह बताई ज्ञानी भी चेष्टा करेगा तो अपनी प्रकृति अनुसार ही करेगा तो लोगों की प्रकृति है वो प्रकृति नहीं है प्राय स्वभाव प्रकृति का तो स्वभाव कह दो आदत कह दो वो आदत ऐसी है तो ज्ञानी महात्मा भी सुस्या प्रकृति सदृशम श्रेष्ठ से अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है ये श्रेष्ठ से लिखा हो क्रिया होती है कर्म नहीं बनता है ज्ञानी महात्मा के शुभ अशुभ कर्म नहीं बनते बनते ही नहीं श्रेष्ठ होती क्रिया होती है तो ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार श्रेष्ठा करता है तो अज्ञानी तो प्रकृति को प्राप्त होते हैं प्रकृति के परवश हो जाते हैं अपने स्वभाव के परवश हो जाते हैं स्वभाव के परवश होना महान पतन है स्वभाव का शुद्ध बनाना ये ठीक है निर्बल बना दो फिर ठीक है तो ज्ञानी की प्रकृति शुद्ध है पर शुद्ध होने पर भी क्रिया करेगा तो अपनी प्रकृति अनुसार ही करेगा ज्ञानी महात्मा है और वो अंग्रेजी बोलना जानता है तो हिंदी थोड़ा ही बोल देगा ग्रस्त है तो ग्रस्त का ही आचरण करेगा ग्रस्त का आचरण सांगोपांग ठीक करेगा वो साधु कैसे करेगा साधु है तो साधु का आचरण नहीं करेगा का आचरण कैसे करेगा उनकी चेष्टा होती है बिल्कुल मर्यादा के अनुसार चेष्टा करेगा तो प्रकृति के ऊपर रहना नहीं पड़ेगा क्यों प्रकृति बन चेष्टा होती नहीं ये क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है अब इसमें कोई काम करे तो उसी को काम में लेना पड़ेगा और दूसरे लोग प्रकृति को प्राप्त हो जाते प्रकृति के परवश हो जाते हैं कामी क्रोधी लोभी ऐसे होते हैं वो प्रकृति के परवश हो जाते हैं उसमें प्रसोर करे तो वो मेरे मत का अनुसरण क्यों नहीं करते कि वो प्रकृति के परवश है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोष है उन दोषों के बसीभूत हो जाते हैं इसमें निग्रह की निग्रह जो शरीर उसका रोकना वो क्या करेगा मोटर खराब है तो चलेगी तो वो अपनी चाल ही चलेगी अच्छी है तो अच्छी चलेगी पर अच्छी मंदिर चलेगी तो अपनी चाल से ही अपने बेग से ही जो सौ मील चलती है कोई डेढ़ सौ दो सौ मील चलती है घंटा में तो वो चले तो वैसे ही शुद्ध होते ही चलते वैसे ही पचास मील चलने वाली है कितनी शुद्ध मशीन ठीक है तो इक्यावन मील कैसे चलेगी है ही नहीं ऐसे अपने विशेषा दूसरी जितनी है प्रकृतियां वे खराब है वो मोटर अच्छी नहीं है हर चीज में काम नहीं कर सके धक्का देकर मोटर को ठीक कर कैसे कर लोगे मशीन खराब है बेचारा मशीन को शुद्ध करना और मशीन शुद्ध करने में अपना स्वभाव शुद्ध बनाने में सब मनुष्य स्वतंत्र है स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कोई क्यों न हो सबके सभी सब अपना स्वभाव सुधारने में स्वतंत्र है और स्वभाव का सुधर जाना यही वास्तव में उन्नति है और स्वभाव नहीं सुधरा तो कितना ही धन हो गया कितनी संपत्ति होगी कितनी वस्तु पैदा होगी प्राप्त हो गई उन्नति नहीं है और लोगों ने धन इकट्ठा करना उन्नति मानी विद्या पढ़ना उन्नति मानी अभ्यास करना उन्नति मानी भगवान कहते ये उन्नति नहीं है स्वभाव अपना शुद्ध बना जाते हैं कहीं जाओ आनंद ही आनंद रहेगा जैसे कोई कहे कि पृथ्वी पर कंकर कांटा कांस आदि बहुत बिखरे हुए हैं तो सब पृथ्वी को ठीक कर दो कपड़ा बिछा दो जिससे कोई कांटा कसा नहीं पड़े ये होना नहीं है तो अपने पैरों से पहन लो कपड़े की तो ऐसे सब संसार सुधर जाए ये बात हाथ की नहीं है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिनके संप्रदाय में लाखों आदमी एक एक संप्रदाय में वे भी अपने संप्रदाय को सुधार नहीं सके लोगों को नहीं सुधार सके अपना सुधार हो जाए अपनी प्रकृति है उपान गूढ़ आदस्य ननु चरमावृत हो जिसने पैरों में जूती पहन ली उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी मटी हुई है कहीं फेंकते हुए तो, तो मटी हुई है कपड़ के पड़ेगी रबड़ की चर्म की जूती पहन ली तो सब जगह ही पृथ्वी मटी होगी हो गई कि नहीं जहां पहुंचेगा वो ठीक है उनमें ऐसे अपना स्वभाव शुद्ध हो जाए सब जगह ठीक हो जाएगा और अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में हम स्वतंत्र पराधीन कोई नहीं है और स्वभाव के परवश होते हैं स्वभाव के अनुसार करते हैं स्वभाव को शुद्ध नहीं बनाते सत्संग करते हैं वही भाई बहन स्वभाव को शुद्ध नहीं बनाते महान पाप महान हत्या वो नहीं छोड़ते सत्संग करने वाले और वो विषय में बातें नहीं मिलती अरे बातें मिलती है तो साधारण आदमी बहुत जल्दी सुधरता है ये पुराने तो सब सब पुराने ही हो गए सड़ गए आशा को देखा करे एक आदमी सूता है और एक आदमी मुर्दा है तो सूते के तो उठने की उम्मीद है मन मुर्दे की उम्मीद नहीं उठने की तो आकर ये मुर्दा जो हो गया उसने उम्मीद नहीं है नया कोई आदमी सुने कई सिद्धांत की बातें इतनी विचित्र उनको मालूम देती है बड़ा आश्चर्य होता पर पुराने हो पर हुई तो इस वास्ते भाई अपनी प्रकृति को शुद्ध करो प्रकृति शुद्ध कैसे होगी इंद्रिय इंद्रिया से रागत द्वेश व्यवस्थित हो चाहे और से तो ये इंद्रिय से इंद्रिय से प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग देश है पूजन करे तो राग देश गुरु काम करे तो राग देश गुरु बोले तो राग देश गुरु चले तो राग देश गुरु पिए तो राग देश गुरु बात करे तो राग देश गुरु प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग देश है अगर आप प्रकृति को शुद्ध बनाना चाहो तो इन राग देश के बसीभूत मत हो शास्त्र प्रमाण शास्त्र के अनुसार सास क्या कहता है गुरुजन क्या कहते हैं महात्मा संत क्या कहते हैं वैसे तो प्रदूषित हो जाएगी निर्मल हो जाएगी पर करे क्या ये तो भोगत भोग तो अघाय नहीं फिर वही इतना रात है रे सुन सेवक राम हैरान भया कसू बात कही नहीं जाते नहीं क्या कर तो आप लोगों से कहना है थोड़ा स्वभाव परिवर्तन लाओ शुद्ध बनाओ और शुद्ध तो बड़ा है ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो अपना स्वभाव सुधारना चाहे सुधर जाएगा भगवान मदद करते हैं शास्त्र मदद करता है संत महात्मा मदद करते हैं गुरुजन मदद करते हैं चोर डाकू मदद करते हैं अच्छे स्वभाव वाले की सेवा करते हैं चोरा चोरी करते हैं डाका डालते हैं जब में कोई संत सत्य दे सकेगा तो उसकी सहायता करेगा सब सहायता करते हैं परंतु भोगे साहस ये संग्रह की इतनी इच्छा जोर से और ये झूठ कपट बेईमानी से उसे उसे तो बेईमानी कर दे अरे बेईमानी नहीं वे भी जीते संसार में परंतु दृष्टि नहीं इस भगवान का रखना चाहिए जो लोगों ने मानेगा हे झूठ देव हे कपट देव हे जाल शादी देव हे काला बाजार तू न्याल करना हमारे को ऐसे उसी शरण है अब उनके सोच में ना पुरुषार्थ से काम चलेगा ना प्रार्थ से ना भगवान से किसी नहीं चलेगा झूठ कपट भी ना आज का काम नहीं चलेगा तो चला करके बंद करो तो झूठ पर छोड़ के बंद कर दो पहले मर जाओ तो हर्ज गया है तुम्हारे पाप तो लगे कहते नरकों में जाओगे नहीं अरे मरना जरूर पड़ेगा ही तो स्वभाव सुधार करके मरो तो अच्छी बात है अगर शुद्ध रहेगा सुबह बिगड़ मर तो बिगड़ते ही चले जाओगे और जगह सुबह सुधारने की कोई जगह नहीं है जगह यही है प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष और न बस मांगे थे और राग देश के भसीभूत होकर मत काम करो तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण शास्त्र की आज्ञा अनुसार या तो आप शास्त्र कर्म कर तुम्हें सकते श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिश्चित स्वधर्म है वो सुवस्तु अनुष्ठित पर धर्म से विगुणों की गुण रहित भी स्वधर्म से अर्जुन कहता है कि मैं गुरुजनों को मारने की अपेक्षा था मांगू से भोग तुम भिक्षे भिक्षा खाना विशेष मानता हूँ भगवान के चिन्ह युद्ध करना तुम्हारा धर्म है भिक्षा मानना धर्म नहीं है विगुण होने पर भी अपना धर्म का अनुष्ठान करो अपनी मर्यादा पर चलो अपनी ठीक तरह चलो मेरे को ये चेष्टा देख देख करके आश्चर्य आता है और दुख भी होता है ये करे क्या बताओ चलती नहीं बात क्यों नहीं मानते तुम्हारे लोग पर लोग दोनों सुधरेंगे सच्ची बात है आपकी दृष्टि तो लोग क्या करें श्रेयानस्व स्वधर्मो पिगुणा पर धर्मात स्वनुष्ठिता पर धर्म का अस्सी जन्म कर तो भी अपने धर्म में विगुण विशेष है एक स्त्री है अपने पुरुष की सेवा करने में कमी रहती है और पर पुरुष की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकती है तो उसके लिए क्या कहना शास्त्र के पर धर्म की पर पुरुष की सेवा करो विगुण है अपने सेवा कम करी जाती है अपने पति में गुण नहीं है वो आसन नहीं है तो भी विगुणों भी स्वधर्म से हाँ, अपना पति श्रेष्ठ है और अच्छी तरह से सेवा कर सकती है परंतु पर धर्म भया हुआ भय देने वाला अंत रूप से भय होगा फायदा नहीं होगा स्वधर्म निर्णय से हाँ, अपने धर्म पालन करते मर्जा तो कल्याण है और पर देव भय देने वाला है प्रथम कौन सा जो हमारे लिए निषिद्ध है वो जैसे श्याम दाम संतोष आदि देवी संपत्ति सबका सब है मनुष्य मात्र का है भाई हो बहन हो ब्राह्मण हो क्षति हो वैष्णु हो स्वधर्म है पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी ये अपना धर्म है ही नहीं ये बड़ धर्म है और ब्राह्मण के लिए बताया है जैसे भिक्षा भिक्षा करना दान लेना यज्ञ कराना ये स्वधर्म से अपने जीवन का चले डाका डालना झूठ कपट करना बेईमानी करना नीच वर्णों की सेवा कर जीव करना ये निश्चित है लेकिन विस्तृत व्याख्या साधु समझ में देखनी चाहिए तो परधर्म स्वधर्म से परधर्मो भया हो